कंकड़ पत्थर में जाती है देखो अब अपने को भूल गए स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा ये श्री कृष्ण दर्शन की मूर्तिमान लालसाएं रुरुदु सिर्फ रोने लगे माने अपना बल अपना पौरुष अपनी शक्ति अपना साधन हार मान के बैठ गया अब यही भगवान के प्रकट होने का अवसर है ऐसा कहते हैं ये जीव और ईश्वर ये दोनों सखा सखा और ये आंख मिचौनी का खेल खेल आंख मिचौनी तो आपने सुना ही होगा एक आंख बंद करता है दूसरे छिप जाते हैं तो फिर वो ढूंढता है कि कहाँ कौन छिपा है न निकाल पावे तो फिर आंख बंद होए और निकाल ले तो जो ढूंढ लिए जाते हैं फिर उनकी आंख बंद करते हैं और वो चेपता है तुम ढूंढो तो ये प्रलय काल और सृष्टि काल ये दो समय है प्रलय काल में जीव सब जो हैं वो माया अविद्या अज्ञान तमिश्राच्छन्न होकर के छिप जाते हैं और सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर एक एक को ढूंढ के निकालता है चलो बेटा जब सृष्टि का खेल होने लगता है तब ईश्वर छिप जाता है और कहता है अब तुम लोग ढूंढो तुम्हारे ढूंढने की बारी है तुम्हारा ऐसा ये बगीचा आराम मस्त पश्यंती न तम पश्यति कश्चन लोग उसके बगीचे को देखते हैं परंतु बगीचे के मालिक को नहीं देखते ये सृष्टि बगीचा है वो इसमें कहीं संगीत की आवाज आ रही है शब्द है कहीं शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है कहीं सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं कहीं मधुक्षरण हो रहा है, हैं? रसीली चीज मिलती है कहीं सुगंध बह रही है तो जब जीव ढूंढने के लिए निकला ईश्वर को तो ये बगीचा उसके सामने आया अब कोई गंध सूंघने में लगा कोई रस पीने में लगा कोई रूप देखने में लगा कोई शीतल वायु का आनंद लेने लगा कोई संगीत सुनने लगा भूल गए हो कि हम आंख मिचौनी के खेल में हैं और ईश्वर को ढूंढ रहे हैं ये आया संसार किसी किसी को खटका जरे हम ढूंढने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि नारायण होम करो व्रत करो तीर्थ करो अपने बल पर उससे ढूंढ लो सबको ढूंढेंगे कर्म से ढूंढेंगे किसी किसी ने कहा कि हम आंख बंद करके बैठ जाएंगे और भीतर ही घूम लेंगे तो दोगी हो गया कोई महाराज बोले कि हम इतना प्रेम करेंगे इतनी सेवा करेंगे ये देखो हम तुम्हारे लिए फूलों की सेज बिछाते हैं ये पत्तों का पंखा बनाते हैं ये फलों का भोग तैयार करते हैं तुम्हारी भक्ति करेंगे पूजा करेंगे आओगे ना हमारी पूजा स्वीकार करने के लिए हाँ। बोले कि बड़ा लालची है अगर हम बढ़िया बढ़िया आम उसको तराश करके रखेंगे खाने के लिए तो उसके जीप पर पानी आवेगा तो जहां से छिपा है वहां से निकल के आ जाएगा पर महाराज वो तो बड़ा पक्का निकले ही नहीं बोले ये लोग देखो युक्ति निकालते हैं कि हम अक्कल से ईश्वर को पालें तो वेदांतियों ने कहा पा लिया पा लिया पा लिया बड़े जोर से चिल्लाए हो है ना शिवम शिवम शिवम सोम अब बात तो थी झूठी मिला नहीं था वो पाया <laughs> नहीं था लेकिन वो इतना भोला भाला हाँ। कि जब देखा कि अब ये लोग इस बात पर जिद्द ही कर बैठे कि हम छिपे रहेंगे तो लोग यही कहेंगे कि पहले तो पकड़े गए फिर छिप गए फिर पहले पकड़े गए फिर छिप गए तो उनसे आके मिल गए धोखाधड़ी धड़ी में मिले वो उनकी जो वृत्ति है ना विद्या वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति तत्वमस्यादि महाबाद के जन्य वृत्ति वो सच्ची नहीं है बिल्कुल धोखा है लेकिन धोखे को मिटाने के लिए धोखा ही तो है ना धोखे को मिटाने के लिए धोखा ही तो भगवान को छिपने का भी धोखा है और उनको पाने का भी धोखा है पाया कहे तो बावरा खोया कहे तो बावरा पाया कहे तो पाया खोया कुछ नहीं जो का त्यों भरपूर ना कछु हुआ न है कछु ना कछु भुवन हार अनुभव का दीदार है अपना रूप अपार न कुछ खोया न कुछ पाया वो तो जैसे झूठ मूठ खोया था वैसे झूठ मूठ पा लिया चलो काम बना आपस में समसत्ता जिनकी लख साधक बाधकता जिनकी सपने की प्यास सपने के पानी से बुझ गई पर महाराज जो प्रेमी थे ना वो पहले ढूंढने लगे नहीं जो खेल हम खेल रहे हैं वो पूरा हो और नहीं मिला तो चिल्लाने लगे चिल्लाने से नहीं मिला हो तो उसकी नकल करने लगे नकल करने से भी नहीं मिले तो रोने लगे तो गाने लगे जब उनका सब उनकी अक्कल खत्म हो गई सब युक्ति समाप्त हो गई सब बल समाप्त हो गया और जब रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा गिर पड़े तो कृष्ण ने कहा अब नहीं उठावेंगे है ना तो ये खेल नहीं रहेगा सच्चा हो जाएगा सीते हैं खेल में अगर खेल में अपना साथी कभी तकलीफ में पड़ जाए भूल जाए ना उसको कोई रोग हो जाए बेहोशी आ जाए तो जो खेल में छिपा हुआ है उसको फिर खेल का पालन नहीं करना चाहिए उसको तो प्रकट होकर के अपने साथी की पहले रक्षा करनी चाहिए बचाना चाहिए वो बचा रहेगा तो हजार खेल खेलेंगे है ना इसी को श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं निष्पादन हो जाना जीव जब निष्पादन हो जाता है तब भगवान मिलता है श्री रामानुजाचार्य जी महाराज इसको प्रपत्ति बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी इसको व्याकुलता की पराकाष्ठा बोलता है जब आदमी का अपना बल समाप्त हो जाता है तो प्रभु का बल स्वयं काम करने लगता है एक बार की बात है थोड़ा इधर उधर की भी है हमारी सत्रह बरस की सोलह बरस की उम्र सत्रह बरस तो उन दिनों मन में ये था कि भगवान का दर्शन हो किसी के पास जाते और वो कहता कि वेदांत पढ़ो तो ऐसे बोलते उससे कि भरी लोचन दिलो की अवधेशा तब सुनो निर्गुण उपदेश ऐसे तो एक महात्मा ने कहा कि भाई पंडित गायत्री का अनुष्ठान करो चौबीस साल इसमें मनुष्य के निश्चय की पूरी परीक्षा हो जाती है वो प्रेम की परीक्षा हो जाती है कितने अपने बल का कितना वो प्रयोग करना चाहता है इसका पता लग जाता है अच्छा भाई अनुष्ठान किया फिर बोले कि अब श्री कृष्ण मंत्र का जप करो नारायण को सिर प्रभात वात रखा विधि विधान हुआ दीक्षा हुई तो जितना उन्होंने अनुष्ठान बताया श्री कृष्ण मंत्र के जप का उतना किया अरे बाबा भगवान के दर्शन की तो क्या बात सपना भी नहीं आया बड़ा दुख हुआ उनसे बोले बोले भाई ऐसे काम नहीं बनता कलऊ संख्या चतुर्गुणा कलयुग में जितना अनुष्ठान की संख्या है उससे चौगुना करो तो इसके लिए इतना होम करो इतना तर्पण करो इतना ब्राह्मण भोजन करो अनुष्ठान हो सकते हो बुधो दद्या धौम्यम तत्फल सिद्धे तो होम न कर सके तो होम की जो वस्तु है वो ब्राह्मण को दे नारायण कहो वो भी हुआ कुछ नहीं संतन का तो मन में आया कि अभी हम घर गृहस्थी में रहते हैं दुनिया का जंजाल बहुत है देखो ये कॉलेज की पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं बोला ये मैंने किसी यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में कोई डिग्री नहीं प्राप्त की है वो कोई डिग्री हमारे पास न व्याकरण आचार्य की न वेदांताचार्य की न न्यायाचार्य की न शास्त्री है ना न शास्त्री न आचार्य कुछ नहीं है ना एक बार उन्हीं दिनों में यहां बैठे हैं पंजाब सिंध क्षेत्र के जो संचालक है ना वो बैठे मैं समझता हूं कि ये नहीं थे उन दिनों में पंजाब सिंध क्षेत्र में पहुंचा ऐसे काट के ऋषिकेश गया था तो जगह ही नहीं मिले कहीं ऋषिकेश में ठहरने के हो तो मैंने कहा बाबा एक आध अलमारी अलमारी दे दो तो इसमें अपना कंबल रख दें गंगा किनारे भजन करेंगे तो बोले कि नहीं देंगे तो मैंने बड़े जोर से कहा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण तो वहां जो आदमी था ना काम करने वाला उसने कहा कि भाई ये तो कोई भगत लगता है है ना तो दे दिया हो हमको जगह मिल गई चमत्कार हो गया ना हमको तुरंत जगह मिल गई उस समय हमारा परिचित वहां कोई बाद में परिचय हुआ एक भगत द्वारपाल जी थे ऐसा कुछ उनका नाम था ऐसा ही था ना बिल्कुल पिछले हिस्से में रहते थे तो वो फिर हमसे बहुत प्रेम करने लगे आ, मैं दूसरी में जब अनुष्ठान में था तो की कर्मचारी का बड़ा भारी अनुष्ठान हुआ था उसमें तो वहां आकर लगे तो आपको सुनाता हूं तो घर से भगा भाई ये घर गृहस्थी में काम नहीं बनता है तो एक तो लोटा पीतल का था अपने पास बड़ा बरगिया लोटा है ना और पांच सात आने पैसे देते तो मुगल सराय तक पैदल गया नौ कोस और एक पैसे का चना खरीद के लोटे में डाल लिया और उसमें पानी भी डाल लिया और उसको हाथ में लिए ही लिए चला कि जब चने वो हाँ भूल जाएंगे खाएंगे इसको तो शिवपुर से आगे मैं समझो कि कोई कोई पंद्रह कोष के करीब चला तो ये ख्याल था कि अब गंगा जी की तरफ जब भाग जाएंगे जंगल में जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे एक बात आपको बताते हैं उसमें जो तर्क होती है किस्सा बताने में हमारा मतलब बिल्कुल नहीं है लेकिन ये अपना ही है इसलिए आप लोग ये सुनेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या नाम है प्रभाव पड़ना चाहिए एक कुएं पर जब जल पीने के लिए गया तो सड़क वहां से पास से गुजरती थी एक इक्का निकला बनारस का बनारसी इक्का बनारसी इक्का वो बड़ा आपस में दौड़ धूप करते हैं उस पर जो बैठे हुए थे वो हमारे पद में चाचा लगते थे और जब उन्होंने देखा कि न मेरे पांव में जूता है है ना न सिर पर धोबी है और मैं नंगे पांव दो पहली में वहां कुएं पर बैठा हुआ हूं तो इक्का रोक के आए और वो डांट लगाई और इक्के पर बैठाया और लौटा के ले आए बनारस जूता खरीदा कपड़े पहनाए और बोले चलो घर दूसरे दिन घर आ गया अब उसके बाद जब बंद कमरे में बैठा तो वो रोना है फिर वैसा रोना कभी नहीं आया हो स्मरण करने योग्य है जब से काम नहीं बना गुरु से काम नहीं बना भागने से काम नहीं बना अनुष्ठान से काम नहीं बना ये उस समय ऐसा ख्याल होता था अब तो मैं जानता हूं कि वो सब ठीक था बना मतलब ये हुआ कि इसके मान ये हुआ कि अब इस शरीर से ईश्वर की प्राप्ति होना संभव नहीं है ऐसी व्याकुलता चित्त में हुई जैसे दीप में बैठा बैठा और जर जर आंसू गिर गए अब वो गिरते गिरते आंसू जब ये ख्याल हुआ ना कि इस शरीर से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती हमारे साधन में हमारे भजन में अठारह अठारह घंटे जब में ध्यान में भजन में बोल लगाते थे नहीं हुआ तो ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं जब बिल्कुल निराशा चित्त में आई ना तो ऐसा चमत्कार आया अपने सामने जैसे संपूर्ण जीवन अमृत से तर हो गया हो ये हम आपको नहीं सुनावेंगे कि क्या हुआ लेकिन ये बताते हैं कि यदि करे नहीं तो आदमी अब ये कहो कि आज ही हम निराश हो जाते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं होगा और हमको ईश्वर प्राप्त हो जाए तो ये तो ईश्वर प्राप्त करने की अक्कल हुई तब जो साधन छोड़ ले जब पहले साधी जब पहले साधन करते करते करते उधर साधन समाप्त हो जाए इधर शक्ति समाप्त समाप्त हो जाए जब आदमी सचमुच निस्साधन होकर गिरता है हो तो ईश्वर अपनी गोद में उठा देता है जब जीव का अहम शांत होता है तब ईश्वर का अहम प्रकट होता है इसको योगी लोग समाधि भले कहें भक्त लोग प्रपत्ति कहें शरणागति कहें व्याकुलता कहें निस्ताबनता कहें अंतकरण की शुद्धि इसको बोलो लेकिन ईश्वर के प्रकट होने का स्थान बिल्कुल वही है जहां अपना बल पौरुष समाप्त हो जाता अब देखो अब श्री कृष्ण के और अपने बीच में क्या आ रहा पासा मा विरभू कौरी मुखाबुज रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा गोपियों का बल गोपियों की युक्ति समाप्त हो गई बुद्धिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तया हमारी बुद्धि कुंठित हो गई हमारी युक्तियां समाप्त हो गई नानियत किंचित बिजानामी त्वमेव शरणम मम मैं कुछ नहीं जानता तुम मेरे आश्रय हो तुम मेरे शरण हो तो आविर्भूत आविर्भाव हुआ आविर्भूत का अर्थ है कि जो वसुदेव के घर में चतुर्भुज प्रकट थे ना जो जसोदा मैया के गोद में जो नन्हा सा बालक प्रकट था जो ग्वाल बालों के साथ जो खेलने वाला था वो सब भाव हट गया और गोपियों के साथ रासक क्रीड़ा करने के लिए जिस किशोर भाव की जिस किशोर बपू की जरूरत थी तो प्रकट हुआ अब उसकी विशेषता बताते हैं रूप से विशेषता देश से विशेषता और स्वरूप से विशेषता तो स्मयमान मुखाम्बुजा ये रूप की विशेषता है और पीताम्बर भर ये भाव की विशेषता है स्रगवी ये देश की विशेषता है और साक्षात मनमथ मनमथा ये स्वरूप की विशेषता है नारायण मान मुखाम्बुज श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो मुस्कुराते हुए प्रकट हुए मेहमान का पहला अर्थ यही समझो कि मुस्कुराते हुए प्रकट हुए तो मुस्कुराते हुए प्रकट होने का अर्थ क्या है कि ये जो अंतर्धान होना था ना विरह था एक बहुत हल्की चीज थी ये बताने के लिए मुस्कुराते हुए आए मुस्कुराने का अर्थ है कि ये तो खेल था और तुम खेल खेल में रो पड़ी गोपियों हाँ। ये हुआ माने अंतर्धान होना तो एक लीला मात्र है हाँ। जब ब्रह्म दृष्टि से उसका नाम लेते हैं तब प्रतीति बोल रहे हो जहां कर्तापन का भाव न हो जहां भोक्तापन का भाव न हो है ना जहां बंधन न हो वासना न हो प्रतीति मात्र है ब्रह्म दृष्टि से इसको प्रतीति मात्र कहेंगे और परमेश्वर की दृष्टि से इसको लीला कहेंगे क्योंकि यहां भी कर्तापन नहीं है यहां भी भोक्तापन नहीं है यहां भी सत्यत्व की भ्रांति नहीं है यहां भी बंधन नहीं है बोला इसलिए परमेश्वर की दृष्टि से ये लीला है और हम लोगों के लिए ये क्या है क्या ये है हम लोगों के लिए भगवान की करुणा भगवान का अनुग्रह क्या आप तो देखो अगर ब्रह्म हमारे ऊपर कृपा करना चाहे तो कैसे करेगा जरा विचारो हम बिल्कुल ब्रह्म की रग रग जान की ये बात बोल रहे हैं बोला ये नहीं समझना हम कभी दवा बता दें तो वो झूठी हो सकती है बोला हमारी बताई हुई दवा बिल्कुल झूठी हो जाएगी हम डॉक्टर नहीं है है ना हम कोई ज्योतिष बता रहे तो झूठा हो जाएगा है ना किसी को बेटा बेटी दें तो वो गलत हो सकता है लेकिन हम ब्रह्म के बारे में जो बात कहेंगे है ना उसमें गलत होने की कोई शंका नहीं है हम ब्रह्म की नस नस रख रख पहचानते हैं तो ब्रह्म अगर किसी के ऊपर अनुग्रह करना चाहे करुणा करना चाहे चाहे भी तो क्या बड़ा बन के आवेगा उसके पास ब्रह्म जितना बड़ा है उससे बड़ा बनने की गुंजाइश ब्रह्म में नहीं है बोला वो स्वरूप से स्वभाव से जितना बड़ा है अब वो चाहे कि उससे ज्यादा बड़ा हम उससे ज्यादा सत गए उससे ज्यादा चित होके उससे ज्यादा आनंद होके उससे ज्यादा अद्वैत होके हम किसी के ऊपर अनुग्रह करें तो वो कर सकता है ब्रह्म जैसा है उससे बड़ा होके अनुग्रह नहीं कर सकता यही उसका निर्विषय बृहत्ता साधित है तब वो अनुग्रह कैसे करेगा तो देखो बड़े आदमी जो है वो बड़ा होके अनुग्रह नहीं करेगा जब छोटा बन के आवेगा तब अनुग्रह करेगा मिनिस्टर मिनिस्टर की हैसियत से नहीं जब मित्र की हैसियत से हमारे घर में आवेगा तब उसका प्रेम होगा वो छत्र चमर लगा के आवेगा तब नहीं जब भाई भाई बन के आवेगा तब उसकी प्रीति होगी तो ये ब्रह्म की प्रीति का नारायण कहो ये हम जीवों की दृष्टि से संसारियों की दृष्टि से साधकों की दृष्टि से करुणा वरुणालय जो प्रभु है परमेश्वर है उसका यही अनुग्रह है कि वो हमारे बीच में प्रकट होता है निर्गुण होने पर भी सगुण होके आता है निराकार होके भी साकार होके आता है, हैं? नारायण तो बिना माँ बाप का होके भी माँ बाप वाला बनता है अभोक्ता होके भी भोक्ता बन के आता है यही उसकी करुणा है यही उसकी कृपा है यही उसकी लीला है यही उसका उद्धार का साधन है नहीं तो ब्रह्म विद्या की निवृत्ति करे देखो ना विद्या वृत्ति में आरूढ़ होकर के अविद्या का निवर्तक होना ये ब्रह्म का छोटा होना है बोला ये न ब्रह्म का स्वरूप है न ब्रह्म का बड़प्पन है परंतु आरूढ़ होकर के चेतन ही अविद्या को निवृत्त करता है इसी को ब्रह्म का अवतीर्ण रूप बोलते हैं इसी का नाम कृष्ण है वो जो वृत्यारूढ़ हो जाए गोप्यारूढ़ हो जाए वृत्यारूढ़ नहीं गोप्यारूढ़ हो जाए वही अविद्या को तो गोप्यारूढ़ होगा तो दुख का निवर्तक होगा बोला नारायण कहो और वृत्यारूढ़ होगा तो अज्ञान का निवर्तक होगा नारायण और देश नारायण कहो ये परमात्मा ये परमात्मा जो है ना एक लेख हमसे होता है इसी को अवतीर्ण रूप भगवान का कहते हैं वो प्रकट हुआ तो मुखाम मुजहा हंसता हुआ यार ये तो लीला थी ये तो खेल था ये तो प्रतीति थी हाँ। ये तो एक झूठी बात थी कि मैं तुम्हारे सामने से अंतर्धान हो गया था कहीं चला गया था मैं तो यही था बिल्कुल यही था तुम्हारे सामने ही था मुस्कुराते हुए आए मुखाम्बुद खिला हुआ जैसे गोपियों को दुख है वैसा दुख वे नहीं प्रकट करते अच्छा मान लो श्री कृष्ण जरा रोते हुए आते उदास तो गोपियों की क्या दशा होती गोपियों की छाती फट जाती वो कहती हाय हाय हमारी वजह से श्री कृष्ण को इतना दुख पहुंचा ये उनकी तो गोपियों को दुख न हो पश्चाताप न हो उनका दिल न फटे है ना मुस्कुराते हुए आए अब देखो असल में बात क्या थी कि जो दो धर्म वैसे आप देखो निज जनस ध्वंसनस ध्वंसनस्मित श्री कृष्ण की मुस्कुराहट कैसी है का अपने भक्तों के स्मय को अभिमान को मिटाने वाली है ध्वस्त करने एक बार मुस्कुरा के किसी की ओर देख दें तो उसका अभिमान तुरंत गल जाए <clears throat> रामानुजो मानिनी नाम इतो दर्पहरस नेता है माननीयों के मान को हरण करने वाली उनकी मुस्कान है तो हुआ क्या अब देखो उलट गई बात सुमय मान मुखाम बुजह सुमय मानव मुखाम्बुजे यश सुमय मान मुखाम्बुजा अब जो गोपियों को पहले सुमय था और मान था वो गोपियों में से निकल के कृष्ण में चला गया और बड़े मरा गंभीरता से चलते हुए और मुस्कुराते हुए है ना और जो पान की पीढ़ी दी थी श्रीमती जी ने उसको खाते हुए है ना और माला जो गले में पहनाई थी उसको दिखाते हुए भी क्या मस्तानी चाल से चले आ रहे हैं तो देखो जी तुम्हारे तुम्हारा दिया हुआ पान अभी तक मुंह में है इसी गंध पहचान लो और तुमने जो माला पहनाई थी वो कुमलाई हुई नहीं है बोला अगर बीच में किसी को हृदय से लगाया होता तो ये माला अब तक कुंभला गई होती बोला नहीं वही तुम्हारी प्रेम से पहनाई हुई माला गले में पड़ी है वही तुम्हारा दिया हुआ पान मुंह में हमारे पड़े पड़ा है मेहमान मुकाम हो जाए और बिल्कुल खिला हुआ है मुखमंडल अगर कोई छल होता कोई कपट होता कोई द्वेष होता कोई तुमको सताना होता तो ये मुस्कान भला हमारे मुख पर खेलती कहिए तो बिल्कुल लीला है सीताम्बरधर स्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ आए तो कैसे आए <clears throat> तो वैसे हमारे भैयाकरण जो है वो बोलते हैं अगर बहुग्रीही से काम चल जाए ना तो ज्यादा शब्दावली नहीं जोड़नी चाहिए तो पीतम अंबरम यस्य स पीताम्बर पीताम्बर माने भगवान जिसका पीला हो कपड़ा उसका नाम पीताम्बर भगवान का एक नाम है तो संस्कृत में पीताम्बर धारी बोलने की जरूरत नहीं है संस्कृत में पीताम्बर कहने से काम चलता है बोले नहीं ये तो पीताम्बर धारण किए हुए हैं बोले जब गोपियों के बीच में आए ना तो सोचा कि थोड़ा हंसाना चाहिए तो वो पीताम्बर अपने सिर पर लेके घूंघट की तरफ थोड़ा काट लिया हो सिर पर धारण करके गोपियों ने कहा देखो पीताम्बर का घूंघट काढ़े आ रहे हैं बोला पीताम्बर का घूंघट काढ़े आ रहे हैं है ना और फिर जब बीच में आए तो सरक गया ये भी एक फैशन है वो कि मालूम पड़े कि अनजान में ही घूंघट सिर पर से गिर गया तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो जरा घूंघट खींच के जैसे आते हो जब गोपियों के बीच में आए तो अपने आप ही धीरे से सरक गया बरा धरा अरे ये लोग समझते हैं कि हमारा ये जो बाल आ गया है ना आंखों के ऊपर तो देखने वाला समझेगा कि ये असावधानी से अपने आप ही आ गया है उसको क्या मालूम कि ये फैशन से आगे किया गया है नारायण तो है ना हाँ, उन लोगों को ऐसा समझते हैं ये बोला हाँ, हाँ, इनका कपड़ा गिरता है तो समझती हैं कि लोग यही समझेंगे कि भोलेपन में अंजाम में असावधानी से गिर गया है है ना अरे वो फैशन से गिराया जाता है वो तो शास्त्र में लिखा है फैशन शास्त्र में वो बात लिखी है तो <laughs> <coughs> तो कृष्ण को तो पीताम्बर धरह का अर्थ ये है कि सिर पर पीताम्बर का पहले घूंघट काट लिया और गोपियों के बीच में आए तो धीरे धीरे वो खिसक गए पीताम्बर का भाव है कि जैसे कोई अपराधी हो गरजदार हो और अपने मालिक के पास अपने मालिक के पास माफी मांगने के लिए जाए कर्ज चुकाने के लिए जाए तो हाथ में अपना अपना अंगूठा गले में डाल के और उसको हाथ में पकड़ के जाता है गोली गोपियों हमने अंतर्धान होकर के तुम्हारा अपराध किया तुमको बड़ा दुख पहुंचा देखो हम तुम्हारे बीच में क्षमा मांगने के लिए आते हैं अरे तुम जो कहो सो करें हम तो बिल्कुल तुम्हारे हैं पीताम्बर भरा एक बात इसमें रहस्य की है पर कह देते हैं सर ये सीता शब्द जो है ना ये राधा रानी का नाम है सीता है तो सीता शब्द का दो अर्थ है बेटा एक तो जिनके शरीर का रंग पीला हो सीता माने पीत वर्णा स्वर्ण वर्णा सुनहला उनके शरीर का रंग है इसलिए उनका नाम पीता है और दूसरे महाराज श्री कृष्ण के द्वारा पीत होने के कारण पीत माने पीला नहीं हो पिया हुआ तो होने के कारण उनका नाम पीता है तो पीताम्बर धरह का अर्थ यह है कि जब दोनों अकेले में चले गए थे ना तो कपड़े में कुछ हेर फेर हो गई थी बदल गया पीता के वस्त्र को धारण कर रखा है पर ये बात तो ज्यादा गुप्त है इसको नहीं प्रकट कर इसमें एक और प्रकट करने योग्य बात है तो वो क्या है श्री कृष्ण और राधा रानी का ऐसा प्रेम संबंध है कि जैसे जब राधा रानी उठती हैं और कृष्ण मनाते हैं ना तो जब राधा रानी मन जाती हैं तब कृष्ण रूठ जाते हैं जब कृष्ण रूठते हैं और राधा रानी मनाती हैं और वो जब मन जाते हैं तब वे रूठ जाते हैं हाँ, परस्पर मान इसको बोलते हैं वे माने तो वो रूठी और वे मानी तो वे रूठे इस तरह महाराज मान मनोवल में सारी रात बीत जाए ऐसा है तो जब श्री कृष्ण के प्रकट होने का समय आया तो उनके मन में पहले ये कल्पना हुई कि मैं इतनी देर अंतर्धान रह चुका हूं और अब प्रकट हो रहा हूं तो राधा रानी होंगी नारायण तो कहीं हमको देखते ही वो भाग गई अंतर्धान हो गई है ना तो फिर रास लीला नहीं होगी फिर तो जैसे इन लोगों ने रात भर हमको ढूंढा वैसे हम रात भर उनको ढूंढे और ढूंढने ढूंढने में ही रासलीला नहीं हो सकेगी तो क्या करना कि जब प्रकट हुए तो पीता जो राधा रानी है है ना उनका अंबर माने उनकी साड़ी पकड़ ली कि भागने न पावे है ना <clears throat> पीता का जो अंबर है उसको पकड़ लिया हो इसलिए पीता अंबर धरा <clears throat> द्रगवी माला है गले में ये माला जो है ये वियोग काल में ही गले में रहती है संयोग काल में नहीं रहती है बोला ऐसी ही और भक्ति का जो रस प्रेम का जो रस है ना भक्ति का रस है वो तो बहुत विलक्षण है हारो नारो पिता कंठ है मया विश्लेष धीरुणा मैंने गले में हार नहीं पहना क्यों नहीं पहना कि हमारे तुम्हारे बीच में अगर हाल हार आ जाएगा तो वो हृदय के मिलने में व्यवधान बन जाएगा एक तीसरी चीज आ जाएगी बीच में हारो नारो पिता कंठे मैं विश्लेष भी होना और प्रेमी लोग गले में हार पहन के नहीं मिलते हैं क्यों नहीं मिलते हैं हमारे तुम्हारे बीच में तीसरा तो फेंक तो दो कितने हार के हीरे के हार और कितने मोती के हार और कितने फूल के हार तोड़ के फेंक दिए तो सरगवी का अर्थ क्या है केवल ये दिखाने के लिए कि ये वियोग काल में ये जो तुम्हारी माला है ना तुम्हारे हाथों से बनी हुई ऐसा मालूम पड़ता था कि तुमने दोनों हाथ हमारे गले में डाल रखा है और ये माला नहीं है ये तुम्हारे हाथ हैं अच्छा अब और साक्षात मनमथ मनमथ ये भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप प्रकट किया हो तो सृगवी वेश है और पीताम्बर धर भाव है और स्मयमान मुखाम्बुज रूप है और साक्षात मनमथ मनमथ ये स्वरूप है नारायण ये स्वरूप क्या है ये भगवान साक्षात है ये साक्षात क्या होता है तो देखो उपनिषद वालों से पूछो ना तो उन्हें जब परमात्मा का वर्णन करना होता है तो कहते हैं आंख की आंख है कि नहीं चक्षुस चक्षु आंख की आंख उनसे पूछो और तो बोले मन मना मन का मन बोले फिर प्राण से प्राण वो है ना है वाचम वाणी के वचन के वचन है मन के मन है आंख की आंख है प्राण के प्राण है, है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ऐसे लिखा है प्राण प्राण के जीवन जी के सुख के सुख श्री राम भगवान रामचंद्र कहते हैं तो प्राण प्राण के जीवन जी के सुख के सुख श्री राम तो प्राण से प्राण मनसो मन चक्षुष चक्षु वाचो वाचम नारायण तो ये क्या है बोले भक्त लोग जब वर्णन करते हैं ना तो वो चक्षुष चक्षु नहीं बोलते हैं मनमथ मनमथा बोलते हैं मनमथा से मनमथा वो मनमथ के भी मनमथ है मनमत उसको कहते हैं जो मन को मत डाले तो ये मनमत के मन को भी मत डालते हैं ये मद से भी बनता है हो है ना और मन से भी बनता है मदमता से भी मनमता बनता है ना हमको मत डाले ये भी इसका अर्थ होता है मद को मत डाले ऐसा इसका अर्थ होता है मन को मत डाले ऐसा इसका अर्थ होता है तो मनमथ के मनमथ हैं इसका अर्थ यह हुआ कि लोक में जो काम है ना एक व्यस्ति काम होता है एक समस्ती काम होता है अब उसका दर्शन समझाने की जरूरत नहीं बिना काम के ईश्वर सृष्टि नहीं कर सकता तो सो काम तो एको हम बहुश्याम अकामयत श्रुति कहती है कामस तदग्रे समवर्तत हाँ, पहले काम ही था ब्याह में मंत्र पढ़ते हैं ना कोदात कस्मयदात कामोदात कामायादात कामोदाता काम प्रतिगृहिता कामयत तत्ते हम पहले ब्याह करवाते थे हो तो हमको बहुत मंत्र याद है सामा हमस्मरे क्वम देवरहम पृथ्वी तवम हाँ, हाँ, मैं सामवेद का संगीत हूँ और तुम ऋग्वेद की ऋचा हो मैं देव हूँ और तुम पृथ्वी हो देखो लड़का बोलता है लड़की से आजकल पंडित लोग आपस ही में ब्याह कर लेते हैं लड़के लड़की को थोड़ी मालूम पड़ता है कि क्या बोलते हैं <laughs> पंडित लोग लड़की पक्ष का पंडित एक मंत्र बोल गया लड़का पक्ष का पंडित एक मंत्र बोल गया दोनों का आपस में ब्याह हो गया और लड़की लड़के को पता ही नहीं देखो क्या बढ़िया मंत्र है सामा हमस्मी हाँ, मैं शाम का संगीत हूँ साम वेद का रिक त्वम तुम तुम ऋग्वेद की ऋचा हो हाँ, माने मैं संगीत हूँ तुम कविता हो देखो दोनों का मेल कैसा बढ़िया होगा संगीत और कविता का मेल कैसा बढ़िया होगा हाँ, काव्य भी सुंदर हो और संगीत भी हो उसमें देवरहम पृथ्वी त्वम हाँ, मैं आकाश हूँ और तुम पृथ्वी हो पृथ्वी तो हमेशा आकाश में ही रहेगी ना ये ये विवाह के मंत्र हो मम व्रते ते हृदय दधामी मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापति न्यूनक महियाम विवाह में मंत्र पढ़ते हैं है ना नारायण अपने व्रत में मैं तुम्हारे हृदय को स्थापित करता हूँ तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के पीछे चले एक मन से आ, मन से मन मिले वाणी से वाणी मिले और ईश्वर तुम्हें मेरे साथ नियुक्त करे ये सब मंत्र विवाह में पड़ जाते हैं तो उसमें ये भी है कामोदात कामायादात कामायी तत्ते कामई तत्ते ऐसा बोलते हैं तो ये काम जो है ना वो एक तो मनुष्य के मन में होता है और एक ईश्वर के मन में होता है जिससे ये सृष्टि होती है तो ये जीव वाला काम नहीं ईश्वर वाला काम कामस्य काम मनमथा मनमथा का अर्थ है कि संपूर्ण सृष्टि को रसीली बनाने वाला जो काम है उस काम के भी काम तुम हो वासुदेवादि चतुर्व्यूह के अंतर्गत जो काम है उसके भी काम तुम हो तो साक्षात मन, मनमत मनमथा कार्तवा की साक्षात जो मनमत है तुम्हारा है ना तुम्हारा स्वरूप भूत जो मनमत है है ना उसके भी मन को तुम मथन करने वाले हो तो औरों की तो बात ही क्या अच्छा जी तो भगवान प्रकट हुए नारायण तो प्रकट होके गोपियों के साथ बातचीत करते हैं उनके साथ लीला विलास करते हैं ये तो बात हो गई अब आज हो गई नौ तारीख है ना नारायण कहो तो यह अच्छा हाँ, बोलेंगे अभी और भी बोलेंगे तो आप लोग शांति से जरा बैठो तो आज वो हो गई नौ तारीख तो क्या नाम दक्षिणा में भी तो आप लोगों को करना पड़ेगा ना तो दक्षिणा में ये बात है कि हमको रुपया पैसा नहीं